तुम पर आग का शोला और तांबे के रंग का धुआं छोड़ा जाएगा फिर तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे